तीन बार ओम का उच्चारण ओ प्रेमी सज्जनों जिज्ञासा समाधान के क्रम में आज वृत्ति का विषय लेते हैं साधकों को ध्यान काल में एकाग्रता बनानी होती है वो अपनी वृत्तियों का यानी विचारों का नियंत्रण करते हैं अच्छे विचार बनाए रखते हैं और पूरे विचारों को हटाते हैं जिन वृत्तियों को हम हटाते हैं उन्हें या तो हानिकारक मान करके हटाते हैं या अनावश्यक मान करके हटाते हैं जो विचार जो वृत्ति साधना के लिए ईश्वर प्राप्ति के लिए बाधक बनती है उसे हम हटाते हैं और उन वृत्तियों को विचारों को यदि हम स्पष्टता के लिए वर्गीकृत करें तो वो दो रूप में दिखाई देती हैं या तो रागात्मक वृत्तियां अथवा देशात्मक वृत्तियां रागात्मक वृत्तियां रागात्मक विचार वो होते हैं जिनमें हम किसी चीज की चाहना कर रहे होते हैं चाह रहे होते हैं इच्छा करते हैं किसी विषय का हमने सुख लिया किसी व्यक्ति से हमें लाभ मिला कोई घटना हमें अच्छी लगी उसको हम विचारते हैं चूंकि हमने उन विषयों में उन घटनाओं में उन व्यक्तियों से सुख लिया हुआ होता है हमें प्रसन्नता हुई होती है तो या तो उनका स्मरण आएगा उनके विचार आएंगे ऐसे सब विचार रागात्मक वृत्ति रागात्मक विचार के अंतर्गत आएंगे और दूसरा भाग है द्वेशात्मक वृत्तियां द्वेशात्मक विचार पहले हमने जिन विषयों से दुख पाया हो जिन व्यक्तियों से दुख पाया हो जिन घटनाओं परिस्थितियों में हमें अच्छा नहीं लगा हो भय हो आशंका हो ऐसी अनुभूति जो हमें इच्छित नहीं है हमें अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है उनसे संबंधित विचार और वृत्तियां जब आती हैं वो भी बाधक बनती हैं तो जो वृत्तियां रागात्मक होंगी द्वेशात्मक होंगी दूसरे शब्दों में जो साधना के लिए मुक्ति के लिए बाधक होंगे उन वृत्तियों को हम हटाते हैं दूसरा कुछ उन वृत्तियों को भी हटाते हैं जो बुरी तो नहीं है अच्छी है लेकिन उस समय अनावश्यक है हमने परमात्मा के किसी गुण को लिया किसी शब्द का जप कर रहे हैं किसी मंत्र का चिंतन कर रहे हैं और उस समय कोई दूसरा शब्द आ जाए दूसरा मंत्र आ जाए तो ये दूसरा शब्द और दूसरा मंत्र साधना में बाधक तो नहीं है हम उन शब्दों का मंत्रों का प्रयोग भी करते हैं ध्यान में लेकिन वो उस समय अनावश्यक होते हैं उस समय वो अनधिकृत रूप से आते हैं अनियंत्रित रूप से आते हैं इस दृष्टि से वो साधना में ध्यान में रोकने योग्य होते हैं उनको भी रोका जाता है तो जिन वृत्तियों विचारों को हम रोकते हैं उसका एक बड़ा वर्ग राग और द्वेष हानिकारक राग और द्वेष जो होते हैं उनसे युक्त होता है इससे हम बचते हैं आज का जो प्रश्न है इस पृष्ठभूमि में थोड़ा और संबंधित है कि व्यवहार काल में ध्यान काल में हम वृत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं और साधना केवल जिस समय ध्यान करने बैठते हैं उतना ही विषय वाली नहीं होती है उसका क्षेत्र पूरे दिन जागृत अवस्था में सदा रहता है वहां भी नियंत्रण करना होता है तो वहां जब वृत्तियों के नियंत्रण की बात आती है उसमें एक प्रश्न है कि व्यवहार काल में भी कोई ना कोई विचार स्मृतियां आती ही रहती हैं कभी कोई विचार आ गया कभी कोई विचार आ गया कभी किसी व्यक्ति का आ गया कभी कोई घटना आ गई कभी कोई स्थान स्मरण में आ गया इत्यादि तो व्यवहार काल में भी कोई ना कोई विचार स्मृतियां आती ही रहती हैं उनको विराम कैसे देना होता है उनको हम कैसे रोकें क्यों इसको रोकना चाहते हैं क्योंकि हमने सुना है दिन भर हमें ईश्वर प्रणिधान बना के रखना है ईश्वर का स्मरण बना के रखना है तो जब ये विचार स्मृतियां उठती हैं तो स्वाभाविक है ईश्वर प्रणिधान में बाधा होती है तो ईश्वर प्रणिधान सदा बना रहे इसलिए इन समय समय पर आने वाली वृत्तियों को विचारों को स्मृतियों को हम कैसे रोकें तो इस विषय में जो प्रक्रिया हम ध्यान में अपनाते हैं वही अपनानी होती है यदि वो स्मृतियां वृत्तियां राग द्वेष से युक्त हैं वृत्तियों के आने पर हम उससे लिप्त हो रहे हैं जो रागात्मक वृत्तियां हैं उन विषय वस्तुओं को फिर चाहना शुरू कर रहे हैं उसके लिए योजना बनाने लग रहे हैं अथवा द्वेषात्मक है तो उस व्यक्ति से कैसे बदला लेना है उसको कैसे डांटना है उसको कैसे दंड देना है कैसे उसकी हानि करनी है कैसे उससे अपने द्वेष को पूरा करना है बदला लेना है इत्यादि बातें तो ये तो हानिकारक है ये कोई साधक नहीं कर रहा है ये किस स्तर पर चल रहा है ये हानिकारक हैं इनको हानिकारक देख के हम हटाने का प्रयास करते हैं लेकिन जो साधक साथ में ये भी देख रहा है कि उस व्यक्ति का स्मरण मैंने किया जो मेरे लिए हानिकारक रहा है उसने मेरी बहुत हानि की है लेकिन अब मुझे पता है कोई लेना देना नहीं है उसने जो किया कर लिया अब मैं उसके पास में जाऊंगा नहीं जाके कुछ मांगूंगा नहीं कोई झगड़ा नहीं है कुछ नहीं है यानी मैंने उससे संबंधित जो घटनाएं थी उनको वैसा का वैसा जो है स्वीकार कर लिया और उसमें कोई कुछ करने योग्य नहीं है मेरे को ऐसी परिस्थिति बनी हुई इसको दूसरे शब्दों में साधक क्या समझता है कि मेरा अब उस विषय में उस वस्तु के प्रति द्वेष नहीं है जिसने मुझे हानि पहुंचाई थी उसके प्रति द्वेष नहीं है और उसने जो मेरे से छीना था धन आदि उसके प्रति मेरा कोई राग नहीं है जिसने छीना था उससे मैं बदले की कोई भावना से युक्त नहीं हूं मुझे कोई बदला लेना नहीं है इसलिए मेरे को द्वेष नहीं है और जो वस्तु उसने छीनी थी अन्यायपूर्वक वो मुझे लेनी नहीं है अब तो उस वस्तु के प्रति भी मेरे को कोई राग नहीं मेरे को समझ में आ गया है अब इसमें कुछ मेरे लिए करने योग्य नहीं है अर्थात मेरे अंदर उस वस्तु के प्रति घटना के प्रति राग और द्वेष नहीं है लेकिन फिर भी वो विचार आते रहते हैं तो उनका क्या करें क्या ये साधना में बाधक है ईश्वर प्रणिधान में बाधक है तो जब हम प्रारंभिक स्तर में साधना कर रहे होते हैं उस दृष्टि से तो हमने अच्छी प्रगति कर ली कि हम कोई बदला नहीं लेना चाह रहे और उस वस्तु को जो छीन ली गई है अलग से कुछ प्रयास नहीं कर रहे ठीक है और इस आधार पे हम कह रहे हैं कि कोई राग और द्वेष नहीं है यदि ये स्थिति है और अभी अन्य वस्तुओं अन्य व्यक्तियों के प्रति जो द्वेष बना हुआ है प्रबल या राग बना हुआ है उसको हम हटाने में लगे तो इस चीज को हम यूं का यूं छोड़ सकते हैं वो कुछ कभी याद आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है हम बाकी के लिए अभी कार्य कर रहे हैं लेकिन यदि किसी साधक ने इस तरह के तीव्र राग और द्वेष सबके प्रति जो जो भी कुछ था वो क्षीण कर दिया अब वो न पाने के लिए प्रयत्नशील है न उससे बदला लेने के लिए प्रयत्नशील है सामान्य जैसा साधना का जीवन चल रहा है वो चला रहा है तब भी ये विचार आ रहे हैं क्या अब भी ये बाधक समझे जाएं या इनको बाधक ना माने बाधक हैं तो इनको कैसे हटाए अब इस स्तर पर साधना के इस स्तर पर जब इन वृत्तियों का विचार किया जाता है तो बदले की भावना से रहित और कुछ पाने की इच्छा से रहित भी जो ये वृत्तियां आ रही हैं ये वृत्तियां भी सूक्ष्म रूप से राग और द्वेष से युक्त ही होती है अभी राग और द्वेष का स्तर उतना बढ़ा हुआ नहीं है क्षीण हो चुका है कि हम उसको पाने के लिए प्रवृत्त हो या विचार करने लग जाएं या छोड़ने के लिए बदला लेने के लिए विचार करने लगे या प्रवृत्त हो जाए कर्म करने लगे इतना वेग नहीं है अभी लेकिन वृत्ति उठ रही है विचार आ रहा है ये ही अपने आप में इस बात का द्योतक है कि अभी उससे संबंधित सूक्ष्म राग और द्वेष बने हुए हैं जिस प्रकार से हम जीवन में हमारे जीवन से संबंधित न होने वाली बातों को याद नहीं करते ऐसे व्यक्ति ऐसी घटनाएं बहुत व्यक्ति हमारे से जुड़े हुए हैं बहुत सारी घटनाएं दुनिया में हो रही हैं बहुत सारी वस्तुएं हैं लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते वो सारी हमारे को स्मरण नहीं आती है हमें कौन सी चीजें स्मरण आती हैं कौन से विचार आते हैं जिन्हें हम अपने से संबंधित समझते हैं हमारे से संबंधित हो या ना हो वो एक अलग बात है प्राय हमारे से संबंधित होते हैं लेकिन कुछ विचार ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में हमारे से संबंधित नहीं होते लेकिन हमें हम उनसे संबंधित हो जाते हैं उन्हें हम अपने से संबंधित समझ लेते हैं तो संबंधित हो या ना हो यदि हम उन्हें अपने से संबंधित समझ लेते हैं तो वो विचार आएंगे और हम विचार करने लग जाते हैं इसलिए दिन में भी कभी ये सामान्य कुछ विचार आते हैं तो वहां भी कुछ राग और द्वेष हमें पकड़ना होता है इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि कई व्यक्ति ऐसे याद आते हैं जिनसे न तो कुछ लेना है न देना है न तो उन्होंने हमें कोई वैसा सुख दिया हुआ होता है ना हमें दुख दिया हुआ होता है बस सामान्य मिलना जुलना हो गया मिले कुछ संपर्क हुआ वो अपने काम से हम अपने काम से लेकिन फिर भी याद आते रहते हैं यहां एक सिद्धांत हमें समझना चाहिए व्यवहार में हम समझते भी हैं उसको लेकिन उसको यहां लागू करना है जो विचार जो वृत्तियां हमारी उठती हैं वो अन्यों की अपेक्षा या तो बलवान होती है तो उनको उभरने का अवसर मिलता है अथवा हम कोई बलवान वृत्ति बलवान विचार उठा नहीं रहे होते इसलिए वो उठती हैं उठी हुई दिखती हैं उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ते पढ़ते दूसरे विचार आते रहते हैं व्यक्ति घटना समस्या भविष्य की योजना बीच बीच में आते रहते हैं आते रहते हैं वो पढ़ता भी जाता है और विचार भी आते जाते हैं वो चल चलते हैं किसी के अधिक किसी के कम लेकिन वही बच्चा जब किसी रुचिकारक कहानी को पढ़ रहा होता है जब वो किसी रुचिकर खेल को देख रहा होता है जब वो किसी रुचिकर फिल्म को नाटक को देख रहा होता है तब तो विचार नहीं आता घटनाएं परिस्थितियां व्यक्ति वैसे के वैसे हैं उस समय नहीं आते और दूसरे समय पढ़ाई के समय आते हैं कारण जब कोई वृत्ति हम तीव्रता से उठा के रखते हैं रुचि जिसमें होती है तो अन्य वृत्तियां जो दुर्बल होती हैं वो उभर नहीं पाती हैं और हमारा हम एक ही तरफ रुचिकारक विषय में एकाग्र होते हैं और इसके विपरीत जब वो हल्की फुल्की बातें वैसे ही किसी व्यक्ति का स्मरण आ जाना अपने जीवन की किसी वैसी बचपन की कोई घटना याद आ जाना ये जब छोटी छोटी बातें भी आती हैं जिनसे अभी कोई विशेष लेना देना नहीं है हमारा सूक्ष्म राग द्वेष तो है लेकिन विशेष कोई लेना देना नहीं है अभी कोई प्रयोजन नहीं है उससे तो ये वो स्थितियां होती हैं जब जब हम किसी विचार को वृत्ति को अध्ययन को प्रबल नहीं रखे हुए हो सकते हैं हो रहे होते हैं प्रबलता नहीं होती है रुचि नहीं होती है किसी में बस वैसे ही पढ़ रहे हैं वैसे ही ध्यान कर रहे हैं वैसे ही स्वाध्याय कर रहे हैं हल्की वृत्ति होती है वेग नहीं होता है तो उस स्थिति में दूसरी चीजें आती है अरुचि होती है नीचे उस वो वृत्ति जो हमारी इच्छित है वो नीचे आती है उसका बल कम होता है तो दूसरी उभर जाती है जो बलवान हो जाएगी दूसरी इसके एक के क्षीण होने पे दूसरी जैसी है वो बलवती हो जाती है वो याद आने लग जाएगी अर्थात जो कार्य जो विषय अभी बना हुआ है उसमें यदि लगन रुचि तीव्र नहीं है तो दूसरी वृत्तियां उठ जाएंगी अथवा हमारे पास अभी कोई विशेष कार्य नहीं है कोई योजना नहीं है बस सामान्य रूप से वैसे ही जीवन चल रहा है कुछ पढ़ लिए कुछ ध्यान कर लिया एक जैसे किसी व्यस्त व्यक्ति के पास में कार्य होता है बहुत सारे कार्य आ जाए घर में कोई समारोह हो शादी हो कुछ और संस्था का कोई कार्य हो बीसियों उसमें छोटे बड़े कार्य देखने होते हैं व्यवस्थाएं देखनी होती हैं तो एक के बाद एक एक के बाद उसमें तीव्रता से चल रहा होता है उसे पता है कि अगर इनको नहीं किया तो कार्य बिगड़ेगा लोग मेरे को कहेंगे संस्था का घर का अपमान होगा अव्यवस्था होगी लोगों को कष्ट होगा इसके कारण से वो उन्हीं विषयों को सोचता रहता है ये तीव्रता है उसकी व्यस्तता है और वही व्यक्ति जब ये कार्य समाप्त हो जाते हैं और कुछ विशेष कार्य नहीं है आराम में है तो दूसरे विचार आएंगे उसको तो साधक यदि अंदर योजना बना करके चल रहा है उसके सामने योजना स्पष्ट है मुझे क्या करना है आज मुझे क्या करना है कहाँ कमी है उसके प्रति प्रतिपक्ष भावना करनी है उसे ठीक करना है और रुचि बनी हुई है तो कार्य करता रहेगा और दूसरी वृत्तियां नहीं आएंगे उसको लेकिन जब ये योजना नहीं होती है हमारी अध्यात्म में तीव्र रुचि नहीं होती है परमात्मा के प्रति तीव्र आकर्षण नहीं होता है जीवन के समय का अमूल्य मानव जीवन का महत्व तो नहीं पता होता कि ये जीवन यूं ही जा रहा है ये कोई अनुभव नहीं हो रहा होता है बस ठीक है जा रहा है जा रहा है उन स्थितियों में दूसरे विचार आएंगे ही क्योंकि हमने कोई विशेष कार्य मन को नहीं दिया कोई विशेष तीव्र योजना मन में नहीं है तो दूसरे विचार आएंगे तो ये मूल छोटा सा सिद्धांत है हम जानते समझते भी हैं कि जैसे ही हम किसी एक तीव्रता को कम करेंगे तो दूसरी चीजें आना शुरू कर देंगे दूसरे विचार आने लग जाएंगे तो यदि किसी साधक को यह प्रतीत हो रहा है तो बस वैसे ही कुछ कुछ बातें आती रहती हैं यद्यपि कोई विशेष राग द्वेष नहीं होता उसमें कोई लेना देना नहीं होता उन चीजों का पर आती है तो साधना में बाधक है या नहीं है इन्हें रोकें तो कैसे रोकें तो उसे सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि उसकी साधना में अभी तीव्रता नहीं हो रही है जिन जिन क्षणों में ये विचार आने लगते हैं इसका मतलब है शिथिलता है कोई योजना नहीं है जिस व्यक्ति को कार्य अधिक और समय कम लगेगा कि कार्य तो मेरे पास बहुत है करने को लेकिन समय नहीं है समय कम है तो वो उन कार्यों को एक के बाद एक एक के बाद एक करता चला जाएगा उसको फुर्सत ही नहीं है फालतू की बातों के लिए फालतू के काम जैसे लोक में वो नहीं करता है ऐसे ही मन में इन फालतू के विचारों को वृत्तियों को वो नहीं उठाता उसको फुर्सत ही नहीं है समय ही नहीं है लेकिन जब साधक के मन में योजना है कुछ योजना है कार्य करने को कम है और समय खूब है आज दिन में पांच छह घंटे क्या करना है थोड़ा सा ध्यान कर लिया थोड़ा स्वाध्याय कर लिया बाकी समय कुछ इधर उधर करके बिताना है बैठ के लेट के घूम के अगर ऐसी स्थिति है तो दूसरे विचार आएंगे उसको जब ऐसा हो रहा हो साधक के साथ तो उसे समझ लेना चाहिए कि मेरी तीव्रता कम है अभी साधना में उसके लिए प्रयासशील हो योजना बनाए कार्यरत रहे तो उन विचारों से बच सकता है इससे संबंधित ही एक और प्रश्न है कि पिछली घटनाएं राग द्वेष वाली ठीक है जैसी भी हैं हम रोक भी देते हैं नहीं भी आती लेकिन इनके अतिरिक्त भी जहां हम रहते हैं घर पर आश्रम में वहां कुछ व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं उनको हम देखते हैं उनसे कुछ व्यवहार करते हैं लेन देन करते हैं और कोई विशेष राजद्वेश नहीं होता उनसे कभी आमने सामने आते जाते हुए उनको देख लेते हैं नमस्ते हो जाती है बस ऐसे व्यक्ति भी यूं याद आते रहते हैं और वो व्यक्ति याद आते हैं तो क्या वो बाधक हैं हमारे साधना में जहां हम घूम के आए वो घर वो मकान वो कोई वृक्ष वो दुकान काम कर लिया उनसे संबंधित लेकिन वैसे याद आ जाते हैं तो यहां भी यही समझना चाहिए मूलभूत वहां राग और द्वेष कुछ न कुछ विषय तो बने हुए हैं लेकिन यदि यहां भी हम अपने को व्यस्त रखते हैं तो ये चीजें बार बार याद नहीं आएंगी कभी कभार किसी निमित्त से कोई व्यक्ति घटना वस्तु याद आ भी जाती है तो विशेष उपयोगी न होने से बस छोड़ देते हैं हम फिर अपने काम में लग जाते हैं वो हमें बाधित नहीं करती है हम उससे किसी बाधा का अनुभव नहीं करते छुट जाती है चली जाती है और सामान्य रूप से इस तरह के किसी व्यक्ति का स्मरण आना हमारे आसपास वालों का वो कोई साधना में विशेष बाधक नहीं है एक स्तर पर चल सकते हैं लेकिन यदि हम और ऊंचे स्तर के हो चुके हैं हम ऊंचे स्तर की साधना कर रहे हैं तो इन प्रत्येक विचारों के प्रति हमें सोचना होता है कि क्यों आया है मैंने क्यों उठा लिया ये विषय एक तो साधक ये करता है विचार आया आना नहीं चाहिए और हटा देता है उसको दूसरे काम में लग जाता है अपने और कार्य की तीव्रता बनी रहती है तब तक वो फिर विचार आते भी नहीं है कार्य की तीव्रता कम हुई तो फिर वो विचार आ जाते हैं आते रहेंगे इसलिए अपने को व्यस्त रखते हैं ये एक स्तर है लेकिन ये अंतिम उपाय नहीं है जो व्यक्ति वृत्तियों के पूरे नियंत्रण के लिए प्रयासरत है एक भी विचार मेरी इच्छा के बिना प्रयोजन के बिना न आए उसे इन एक एक वृत्तियों को विचारना होता है खोजना होता है किसी व्यक्ति का स्मरण आया जिससे न लेना न देना ऐसा प्रतीत हो रहा है अब उसने सिद्धांत स्पष्ट कर रखा है कि नहीं कुछ स्मरण आया है तो कुछ ना कुछ तो कारण अवश्य है क्योंकि उसने साधना का विषय ये बना रखा है कि मुझे वृत्तियों को रोकना है नियंत्रण करना है वृत्तियों को समझना है मन को समझना है तो वो इससे परेशान चिंतित नहीं होता कि मेरे ये कोई व्यक्ति का विचार आ गया घटना का विचार आ गया तो क्यों आ गया मैं कैसे हटाऊं इसको बोले ठीक है आ गया है तो आने दो आया अब उसके विश्लेषण में लग जाता है अच्छा क्यों आया ये उसमें देखता है कोई राग है कोई द्वेष है इस व्यक्ति से मेरे पहले संबंध कैसे रहे उस घटना को मैंने पहले कैसे अनुभव किया था इत्यादि वो सोचता है उन स्मरण करता है अब ये वृत्तियां उठाना नहीं है ये मुक्ति में बाधक नहीं है ये उसकी चीड़फाड़ कर रहा है उसका विश्लेषण कर रहा है और ये आवश्यक होता है वृत्तियों को समझने के लिए उसने देखा कोई बात नहीं ये वृत्ति उठ गई विचार आ गया तो इसी को देखते क्यों आया ये उसको समझ में आता है हाँ यहाँ ये चीज है अर्थात इस विषय में अभी मेरा कुछ राग है इस विषय में मेरा कुछ अभी द्वेष ये क्यों आया तो इस प्रकार से जो ऊंचे साधक होते हैं वो एक एक वृत्ति को विचारते रहते हैं बाहर से कुछ काम नहीं दिखेगा उनको लेकिन अंदर उनका काम चलता रहेगा जब जब समय मिलेगा इन वृत्तियों को देखेंगे विचारेंगे और जितना जितना इनको समझते जाते हैं उतनी उतनी ये क्षीण होती चली जाती है न समझ लिया धीरे धीरे वो फिर आना बंद कर देंगे और आई भी तो हमें तत्काल समझ में आएगा ये क्यों आई है और क्यों आई है का पता है तो उसका समाधान भी हम बहुत शीघ्रता से कर लेंगे वो कभी हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी कि क्यों आ रही है बार बार हम नहीं चाह रहे हैं फिर भी बार बार क्यों आ रही है ये अनियंत्रण की स्थिति नहीं बनेगी तो सामान्य रूप से कभी हमारे अंदर कुछ विचार आते हैं कभी कभार आ गए तो उसके लिए प्रारंभ में अधिक चिंतित होने की बात नहीं है लेकिन उच्च स्तर के लिए इन सब को एक एक को विचारों को भी पकड़ पकड़ के विचार करना पड़ता है उसका विश्लेषण हमें करना होता है और इसी के आधार पर मनोनियंत्रण सतता जाता है मन की सामर्थ्य बढ़ती जाती है और हम इस प्रकार की वृत्तियों से बचते हुए बहुत अच्छी एकाग्रता विचारों से रहित स्थिति एकाग्र जिस विषय में हम चाहते हैं उसमें लगा करके चल सकते हैं जो साधना में प्रयोग करते हैं तो साधना में उनकी गति हो जाती है जो इसका उपयोग अध्ययन में करते हैं पढ़ने में तो उनकी पढ़ने में गति हो जाती है इसका उपयोग जो अन्य कार्यों में करते हैं तो उन कार्यों में उनकी कुशलता बढ़ जाती है कहीं भी प्रयोग करेंगे वहां वहां वो अच्छा होता जाता है तो इस विषय को यही समाप्त करता हूं किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं से कि व्यवहार में आने वाले क्या हर दशात्मक विचार हानिकारक है अथवा आपने पीछे बताया कि जो वाले वाले विचार है वो हानिकारक वो बात ठीक है अभी जो विषय रखा गया वो अविद्या युक्त राग और द्वेष का ही है इनका प्रश्न ये है कि कोई भी इच्छा क्या मुक्ति में बाधक है रागात्मक कोई भी अनिच्छा अप्रीति द्वेशात्मक मुक्ति में बाधक है तो जो अविद्या से युक्त राग और द्वेष है वो मुक्ति में बाधक होती है और जो विद्या युक्त प्रीति अप्रीति है उसको दूसरे शब्दों में राग और द्वेष भी कह सकते हैं वो मुक्ति में बाधक नहीं होता है लेकिन हम राग और द्वेष को हमेशा अविद्या युक्त ही मानते हैं और जो राग और द्वेष योग दर्शन में छोड़ने के लिए कहे हैं वो अविद्या वाले ही राग और द्वेष हैं इसलिए सामान्य रूप से यही कथन करते हैं कि राग और द्वेष को हमें छोड़ना है वो एक सैद्धांतिक और समझ की बात है वो आगे की बात है जो आप पूछ रहे हैं तो इसे यहीं समाप्त करते हैं तीन बार ओम का उच्चारण और फिर रात्रिकालीन मंत्र का पाठ